श्रीगणेशाय नमः श्रीजानकीवल्लभो विजयते श्रीरामचरितमानस तृतीयसोपान अरण्यकाण्ड मूलं धर्मतरुर्विवेकजलधे पुण्येन्दुमानन्दतम् वैराग्याम्बुजभास्करं जगघनं ध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधरपुङ्गपाटनविधौ स्वसंभवं शङ्करम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनम् श्रीरामभूपप्रियम् सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासनं कटिलस तूडीरभारं वरम् राजेवायतलोचनं धृतजटा जूटेन संशोभितम् सीतालक्ष्मणसंयुतं पथि गतं रामाभिरामं भजे उमा गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोह विमूढ़ जय हरि विमुखन धर्मरति धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है जो सुंदर वलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं कमर उत्तम तर्कस के भार से सुशोभित है कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ हे पार्वती श्री राम जी के गुण गुण हैं पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं पुर नर नारि भरत प्रीति मे गाये मति अनुरूप अनूप सुहाये अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जिबन सुर नर मुनि भावन एकबार चुन कुसुम सुहाये निज कर भूषण राम बनाए सीत ही पहराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपने बुद्धि के अनुसार गान किया अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो जिन्हें वे वन में कर रहे हैं एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए सुरपति सुत धरिबायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा जिम पिपेल का सागर था महामंदमति पावन चाह सीता चरण चोचहति भागा मंद मति कारण कागा चला रुधिर रघुनायक जाना शीक धनुष सायक संधान देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है जैसे महान मंदबुद्धि चीटी समुद्र का था पाना चाहती हो वह मूढ़ मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोच मार कर भागा जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर शीख सरकंडे के बाण संधान किया अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर तासन आय की छलो सुरखयव गुण गे श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दिनों पर सदा प्रेम रहता है उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया